काञ्चरागौरीन्दकलाधनुष्ठा श्रीन्दसुन्दरमुखाबहनिन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमतत्त्वमहीजाने नमो नवघनश्याम कामकामकदेहिने कमलाकामसैजाने संस्थामकदेहिने श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने जनकक्लेशनाशाय देवाय नमो नमः नमः श्रीपरमहंसास्तुवादित्य शरणकमलकुम्भकरङ्गाय भक्तवर्मानसुव्यासाय श्रीरामचन्द्राय محمد رسول الله जरासंध से उसके बीच में नारद जी ने काली अलंक वो भी तीन करोड़ मिले चौंक लेकर के उसने मछला को आकर के चार भगवान ने सोचा तो इधर से olóògbé kílà मथुरा में जितने यादव लोग रह रहे थे उनको सबको अपने योग वर्ष से उन्होंने वहां द्वारका में पहुंचे रात को सब लोग मथुरा में सोए थे और प्रातःकाल ही यादव लोग देखते हैं तो चारों समुद्र लग रहा है समुद्र के बीच में दिव्य सबके लोगों को सबसे भगवान श्री कृष्ण के का प्रभाव सबको सबसे जरूरत है